तब योगेश ने अपने चश्मे को हाथों से पकड़कर ठीक करते हुए कहा मैं गलत बोल रहा था मुझे आपसे ये सब नहीं छुपाना था पहले ही ये सब बता देना था जब हमारी कंपनी अकेली रात फिल्म बना रही थी तब हम लोगों ने इस फिल्म के लिए निरूपा को लीड एक्ट्रेस चुना था फिर फिल्म के डायरेक्टर रविचंद्रन ने स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए निरूपा के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मीटिंग भी करवाई थी फिर योगेश ने एक नजर बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देखने के बाद कहा सर आप लोग मेरा यकीन कीजिए मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है रविचंद्रन ने ये सब सिर्फ फंडिंग पाने के लिए किया था उसे फिल्म के लिए दो करोड़ पचपन लाख रुपए इन्वेस्टर्स ने दिए थे लेकिन फिल्म बनाने में सिर्फ दो करोड़ का खर्चा आया था और बाकी के पचपन लाख का प्रॉफिट हम लोगों को हुआ था और इस वजह से मैंने भी रविचंद्रन को इसके लिए कुछ नहीं कहा था कुछ नहीं कहा था मतलब आप कंपनी के मैनेजर हैं अपनी कंपनी में भला इस तरह की चीजें कैसे होने दे रहे थे हर्षित ने उसे डपटते हुए कहा हर्षित की इस बात का मानो गुलाटी के पास कोई जवाब नहीं था उसका झुका हुआ सिर इस बात की गवाही दे रहा था कि गुलाटी ने भी कहीं ना कहीं गलती की है लेकिन फिर फिल्म में काम करने के लिए काजल कपूर आ गई वो फिल्म का लीड रोल करने के लिए हम लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने लगी उसके पीछे सपोर्ट ऐसा था कि हम लोग कभी चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकते थे फिर जब मैंने इस बारे में रविचंद्रन से बात की तो उसने मेरी मदद करने के लिए हामी भर दिया लेकिन सच में मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि रविचंद्रन निरूपा को फिल्म से बाहर करने के लिए उसे कोई हरजाना भी नहीं देगा बल्कि वो उल्टा निरूपा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा हम्म, मतलब कहीं ना कहीं तुम सब लोग इस काम में इन्वॉल्व थे कोई भी दूध का धुला नहीं है हर्षित ने मैनेजर गुलाटी को फटकारते हुए कहा फिर विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा पक्का है कि काजल ने फिल्म में काम पाने के लिए तुम लोगों को अच्छा खासा दाम चुकाया होगा ये सुनकर गुलाटी की धड़कन और ज्यादा बढ़ उठी वो सहमी हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगा अच्छा ये सब छोड़ो विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा गुलाटी जी मेरे पास एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी में जितने लोग काम करते थे उन सभी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया था ना आप क्या कैसा इंश्योरेंस गुलाटी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से विक्रांत इंश्योरेंस का भी जिक्र कर सकता है नहीं मैंने नहीं सुना कुछ इसके बारे में विक्रांत फिर शांत होकर बैठ गया आगे हर्षित ने बोलते हुए कहा इस साल की शुरुआत में आपकी कंपनी ने सभी इम्प्लाईज के लिए इंश्योरेंस प्लान खरीदा था इस इंश्योरेंस प्लान के तहत अगर किसी भी इम्प्लाय की डेथ होती है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा अमाउंट में कम्पनसेशन दिया जाता है खासतौर पर अगर मौत एक्सीडेंटल है तब तो इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल सिचुएशन से कई गुना ज्यादा अमाउंट पे करती है और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने एम्प्लॉज के लिए डबल इंश्योरेंस प्लान खरीदा था मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की एक्सीडेंट डेथ होती है तो फिर जितना पैसा उस एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा उतना ही पैसा कंपनी को भी इंश्योरेंस वालों की तरफ से मिलेगा आगे फिर विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में कहा मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है वर्कला बीच पर टोटल छह लोगों की मौत हुई है अगर इंश्योरेंस कंपनी इन सभी के लिए पेमेंट करती है तो आपकी कंपनी को सीधे आठ करोड़ रुपए का फायदा होगा ओह ये तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है मैनेजर गुलाटी अवाक होकर हर्षित की तरफ देखने लगा फिर गुलाटी ने अपना सिर खुजाते हुए समझाना शुरू किया सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है एक्चुअली ऐसा था कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने हमारी कंपनी से काफी कर्ज ले रखा था इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड नहीं थे तो उन लोगों ने अपना कर्ज उतारने के लिए हमारी कंपनी के सभी एम्प्लाई का लाइफ इंश्योरेंस करने का ऑफर दिया और उन लोगों ने हमें स्पेशली इतना हाई कम्पनसेशन देने का वादा किया था वरना किसी को वो लोग इतना रिटर्न नहीं देते थे सर अब जब कंपनी के पास पैसा नहीं था तो वो लोग बार बार इंश्योरेंस करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मुझे भी ये करवाना पड़ गया और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास सर कुल छह लोगों का मर्डर हुआ है आप मेरा यकीन कीजिए मैं पैसों के लिए यह कतई नहीं कर सकता मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता आप मेरा भरोसा कीजिए मैनेजर गुलाटी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा आ, सच में मैंने तुम्हारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक किया है तुम लोग पिछले कुछ सालों से नुकसान में नहीं चल रहे हर्षद ने बेहद सख्त लहजे में सवाल किया और तुम खुद कर्जे में डूबे हो खुद बताओ तुम अपना कर्जा कैसे चुकाने वाले थे मैनेजर गुलाटी की आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे उसने कांपते हुए लफ्जों में कहा सर आप सही कह रहे हैं मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ लेकिन सर अपना कर्ज उतारने के लिए मैं किसी का खून तो कभी नहीं कर सकता और हाँ कंपनी ने हमारे एम्प्लॉय का एक्सीडेंट इंश्योरेंस किया था और अगर किसी एम्प्लॉय का मर्डर होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कोई भुगतान नहीं करेगी ये साफ साफ लिखा है आप चाहें तो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं वो तो हम सब पढ़ चुके हैं हर्षित ने जवाब दिया लेकिन जब तक कातिल मिल नहीं जाता और ये साबित नहीं हो जाता कि ये मर्डर है तब तक तो ये एक्सीडेंटल केस ही है ना और जब तक पुलिस कातिल को पकड़ेगी और केस क्लोज करेगी तब तक तो तुम इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले चुके रहोगे तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर कातिल नहीं मिलता तो फिर कानून के अनुसार इस केस को एक्सीडेंटल ही माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी हालत में तुम्हें ये पे करना ही पड़ेगा इसलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुमने ये सब बहुत पहले ही प्लान कर रखा था फिर आगे हर्षद ने बेहद कड़े लफ्जों में कहा ये यहाँ बीच पर जो मर्डर हुआ है ये सब तुम और तुम्हारी कंपनी की बहुत बड़ी चाल है दयाकर को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है योगेश गुलाटी अब तुम बच नहीं सकते फटाफट सच्चाई बताना शुरू कर दो बताओ इस वक्त दयाकर कहाँ है ये सुनकर मैनेजर गुलाटी मानो रो पड़ेंगे उसने बड़बड़ाते हुए कहा सर सच में मैंने कुछ नहीं किया मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं मैंने कुछ नहीं किया आप मेरा यकीन कीजिए मुझे मुझे कुछ नहीं पता जिस रात मर्डर हुआ उस रात तुम कहाँ थे तुम्हारा कोई गवाह है कोई था तुम्हारे साथ जो ये कह सके कि तुम उसके साथ थे ने गुलाटी को घूरते हुए कहा उस रात मैं, मैं, मैं गुलाटी कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था तभी उसके दिमाग में कुछ और आ गया सो तो उसने तपाक से जवाब दिया हाँ हाँ सर एक चीज और हमने जिस कंपनी से इंश्योरेंस प्लान खरीदा था वो तो काफी ज्यादा लॉस में आ चुकी है और अब वो कंपनी बिक भी गई है तो फिर भला वो कंपनी कैसे कंपनसेशन पे कर सकती है क्या बकवास कर रहे हो हर्षद ने तुरंत ही कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते हुए कहा क्या नाम था कंपनी का sir life finance okay life finance ठीक हर्षद ने तुरंत ही इंटरनेट पर इस कंपनी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तकरीबन पांच मिनट तक के रिसर्च के बाद हर्षद ने फिर से गुराटी की तरफ देखते हुए कहा ठीक है तुम सही कह रहे हो कि कंपनी बिक गई है लेकिन जिस कंपनी ने उसे खरीदा है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी ना वो तो जो पे करना है करेगी ना अब बोलो तुम उस रात तुम कहाँ थे किसके साथ थे क्या कर रहे थे हर्षद ने फिर से गुलाटी को चित कर दिया लेकिन इस बार गुलाटी के कुछ जवाब देने से पहले ही विक्रांत ने हर्षित की तरफ इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कहा क्या क्या वो सर आशीष समझ नहीं सका कि आखिर विक्रांत उसे यूं चुप क्यों करवा रहा है वो हैरत भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगा लेकिन विक्रांत ने हर्षित को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने चुपचाप अपने हाथ में केस की फाइल उठाई और यहाँ से चल पड़ा पल भर में विक्रांत इंटेरोगेशन रूम से निकलकर बाहर आ गया